وقنا عذاب النار اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم آمين ثم آمين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله अल्लाह रब्बुल रबालमीन का करम है कि इस मुबारक नशस में हम जमा हैं और ये एक फिक्री नशस्त है जिसका मकसद ईमान का तहफ़ है ईमान का तहफ़ इंतहाई ज़रूरी है नबी अक्रम सल्ला अलैहि वसल्लम इशाद फरमाते हैं नेक आमाल ऐसे फितनों के जहूर से पहले कर लो जो अंधेरी रात के हिस्सों की तरह होंगे अगर आदमी सुबह के वक्त मोमिन होगा तो शाम को काफिर हो जाएगा और शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर हो जाएगा कोई दुनिया के हकीर सामान के एवज दुनिया की मामूली दौलत के एवज अपना ईमान बेच डालेगा एक दूसरी रिवायत में है अनकरीब लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि मस्जिद में एक हजार बल्कि उससे ज्यादा लोग नमाज पढ़ेंगे मगर उनमें कोई मोमिन न होगा आखिरी जमाने में कीड़े मकोड़ों की तरह पढ़े लिखे लोग होंगे तो जो ये जमाना पाले वो उससे अल्लाह की पनाह मांगे यकीन सबसे खतरनाक चीज जिसका मैं अपनी उम्मत पर खौफ महसूस करता हूं वो गुमराह करने वाले ओलमा और ऐसे मुनाफिकीन हैं जो जबान के बड़े मीठे होंगे लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा जिसमें दीन पर साबित कदम रहने वाले के लिए तुम में से पचास आदमियों के बराबर अजर होगा इन तमाम हदीसों का खुलासा यही है कि फितने का जहूर होगा दीन की हिफाजत बड़ी मुश्किल होगी और इंसान अपने ईमान के तहफ़ की जब फिक्र नहीं करेगा तो बाद वो होंगे जो सुबह मोमिन होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे जो शाम को मोमिन होंगे सुबह काफिर हो जाएंगे ये मसला अच्छी तरह समझ लें कि मजाक में भी कुफर बकना कुफर है गुस्से में या किसी मुसीबत में कुफर बक देना यह भी कुफर है तो जब तक इंसान उससे सच्ची पक्की तोबा न करे उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं होगा जब तक वो तजदीद ईमान न करे उसकी कोई नेक आमाल कबूल न किए जाएंगे तो सबसे अहम चीज वो है अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात के बारे में जानना ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज जो मीडिया हमारे सामने है या आज लोगों की जो दोस्तों की गैदरिंग है लोग बोलने में जर्रा बराबर भी एहतियात नहीं करते और वो ओल फोल बकते हैं और कई मरतबा ये कुफरिया जुमले होते हैं ख़ास तौर पर फिल्मों में ड्रामों में गानों में गज़लों में कुफरिया अशार कहे जाते हैं इसी तरह जो मजाहिया प्रोग्राम होते हैं जो मजाहिया शो होते हैं उसके अंदर भी कुफर बका जाता है जैसे हाल ही गालिबा पांच छह दिन पुरानी बात है टीवी पर एक शो आया उसमें उन्होंने एक मजहबी स्कॉलर को बुलाया रसूलुल्लाह ने फरमाया ना कीड़े मकोड़े की तरह पढ़े लिखे लोग होंगे तो कीड़े मकोड़े की कोई हैसियत नहीं होती तो ऐसे पढ़े लिखे लोग के जो सही तौर पर दीन की समझ नहीं रखते खशखशी दाढ़ी रखी हुई है नंगे सर बैठे हुए हैं और जनाब ये मजहबी स्कॉलर हैं तो इन्होंने मजहब की तालीम कौन से दारूम में हासिल की है कुरान हदीस पर इन्हें कितनी महारत है इसकी कोई परवाह नहीं करता तो मजहबी जो नाम नहाद स्कॉलर है उसके बराबर में एक फाहिश औरत बैठी है जो फिल्मों में काम करती है और जो औरत फिल्मों में काम करे वो गंदी औरत है नापाक औरत है और एक मजाहिया ड्रामा पेश करने वाला मौजूद है तो वो औरत कि जो फिल्मों में काम करती है वो ये कहती है कि मैंने कई फिल्मों में काम किया लेकिन मेरे पैसे लोगों ने रोके हुए हैं और अभी तक मेरा हक उन्होंने नहीं दिया तो मजहबी स्कॉलर कहता है कि भाई ये तो रसूलुल्लाह का हुक्म है कि मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे देनी चाहिए अब आप बताइए कि फिल्मों में जो औरत काम कर रही है वो हराम काम कर रही है गुनाहे कबीरा कर रही है और उसके लिए ये हदीस सुनाना और वो भी मजहबी स्कॉलर कहलाने वाला सुना है तोबा तोबा तो जो मजाक उड़ाने वाला वो उस हदीस का मजाक उड़ाता है और कहता है भाई हदीस में तो है कि पसीना खुश होने से पहले अब तो ऐसी लगे हुए पसीना ही ना आए तो फिर कहां से मजदूरी दें नवज़ुबिल्ला में जालिक सुम नऊजुबिल्ला में जालिक वो सब हंस रहे हैं और जो लोग ये शो देख रहे हैं वो भी हंस रहे हैं जो हंसा वो भी काफिर और जो बोला वो भी काफिर अब आप बताइए अपना नमाज कबूल होनी है न तहजद कबूल होनी है न सदका न जक़ात न रोज़ा न हज न उम्र जब तक कि वो अपने इस कुफर या अकीदे से या कुफर या जुमले से तोबा ना करे लेकिन तोबा कौन करेगा जिसे मालूम होगा कि मैंने ये जुमला कहा है ये कुफर है तो इसलिए जो रसूलुल्लाह ने फरमाया वो सच ही फरमाया और हुजूर का हर फरमान सच्चाई है कि हालात ऐसे होंगे आदमी सुबह मोमिन होगा शाम को काफिर हो जाएगा शाम को मोमिन होगा सुबह काफिर हो जाएगा और दुनिया की हकीर दौलत के की वजह से हकीर सामान की वजह से वो अपना दीन बेच डालेगा तो इसलिए हमें सच्ची पक्की तोबा करनी चाहिए तजदीद ईमान करना चाहिए और जबान दुनिया के मामला में जबान खोलें और उसमें बे एहतियाती हो तो उसमें इतना मसला नहीं होता लेकिन जब दीन के मामला में बात कर रहे हों जन्नत के बारे में जहन्नम के बारे में फरिश्तों के बारे में नबियों के बारे में वलियों के बारे में कुरान के बारे में अल्लाह और उसके रसूल के बारे में हजार मरतबा सोच लें कि मैं ये जुमला बोल रहा हूं ये जुमला सही है या गलत है किसी ने आपको कहा तो उसकी ताइद में सर हिलाने से पहले या मुस्कुराने से पहले या खुश होने से पहले सोच लें कि ये जो जुमला इसने कहा है कहीं ये जुमला ईमान को बर्बाद करने वाला ना हो जब ईमान के तहफ़ का जहन बनेगा तो इन ताला आसानियां पैदा हो जाएंगे और इसमें ईमान ज़ाया होने का एक सबब मुरबत भी है मुरबत यह है कि दोस्तों में बैठे हैं रिश्तेदारों में बैठे हैं या कोई मालदार शख्स है उसने ऑल फोल बक दिया तो बंदा कहता है मैं इसकी हा में आना ही मिलाऊंगा या सर नहीं हिलाऊंगा तो ये नाराज़ हो जाएगा अपने ईमान की फिक्र करें कोई कब्र में काम नहीं आएगा बंदा साफ कह दे कि उन लोगों की आदत होती है हाँ भाई मैं सही कह रहा हूं तो इस तरह कोई कहे तो कहे भाई मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही मैं इसके मुतालिक क्या कह सकता हूं शर्म मुरबत मत करें क्योंकि ईमान बर्बाद हो गया तो न सेठ काम आएगा न रिश्तेदार काम आएंगे न माँ बाप काम आएंगे कब्र आखरत के अंदर अगर ईमान बर्बाद वो करके गया तो हमेशा हमेशा जहन्नम में जलना पड़ेगा अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात के मुतालिक अल्लाह एक है कोई उसका शरीक नहीं न ज़ात में कोई उसके बराबर है न सिफात में न अफ़ाल में न अहकाम में न असमा में यहां पर इस चीज़ को समझ लें वो चीज़ ये है कि ज़ात में उसकी कोई बराबर नहीं सिफात और असमा में भी कोई उसके बराबर नहीं तो अगर हम ये देखते हैं कि अल्लाह का नाम रहीम है और रऊफ है और कुरान ने रसूलुल्लाह को भी रहीम और रऊफ कहा तो ये लफ्जी बराबरी तो है लेकिन हकीकता बराबरी नहीं क्योंकि अल्लाह की हर सिफत जाती है और मखलूक की हर सिफत वो अतई है अल्लाह हमेशा हमेशा से रहीम रऊफ है और हजूर सल्ला वसलम रगीम रहीम रऊफ हैं जब से अल्लाह ने रहीम रऊफ बनाया तो जब ये फर्क हो गया तो बराबरी न हुई वाजिबुल वजूद है यानी इसका वजूद जरूरी है माना ये कि वो हमेशा हमेशा से है हमेशा हमेशा रहेगा कदीम है अजली है अबदी है वही इसका मुस्तक है कि उसकी इबादत की जाए वो किसी का मोहताज नहीं तमाम जहां उसका मोहताज है ये एक अहम अकीदा है जैसे हम तो पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें हिंदुओं से सामना नहीं होता लेकिन इंडिया के अंदर मुसलमानों को कभी कभी हिंदू पंडित से सामना हो जाता है तो हिंदू जो पंडित हैं वो इस तरह का एतराज करते हैं कि भाई तुम्हारा ये अकीदा है कि हजरत मीकाईल सलाम बारिश बरसाते हैं और हजरत मीकाईल सलाम रोजी देते हैं हजरत इसराइल मलकुल मौत सलाम मौत देते हैं हजरत ईसा सलाम मुर्दों को जिंदा किया करते शिफा दिया करते हैं तो वो ये सवाल करते हैं कि हमारा अकीदा है कि फलां बुत रोजी देता है फलां हमारा खुदा बारिश बरसाता है फलां मौत की देवी है वो मौत देती है फलां हमारा खुदा मुर्दों को जिंदा करता है फलां हमारा मुर्दा शिफा देता है तो हम हैं मुशरक और तुम ये अकीदा रखो तो तुम मुस्लिम ये फर्क क्यों है तो उसका जवाब ये है कि ये मुशरकिन ने जिन बुतों को खुदा समझा है तो ये मुशरक हुए हैं खुदा समझने की वजह से हमने हजरत मिकाइल या हजरत मलकुल मौत को खुदा नहीं समझा दूसरी बात इनका अकीदा यह है कि इन बुतों की पूजा करनी चाहिए हम हजरत मिकाइल की शान तो मानते हैं लेकिन पूजा उनकी हम नहीं करते हम हजरत मलकुल मौत की शान तो मानते हैं लेकिन पूजा उनकी नहीं करते तो वो इन्हें खुदा समझते हैं और वो उन्हें इला समझकर उन बुतों की पूजा करते हैं और हम ऐसा नहीं करते तीसरी बात तीसरा जो फर्क है वो ये है कि वो अपने झूठे खुदाओं के मुतालिक ये समझते हैं कि अल्लाह ने जब पूरी कायनात बनाई तो ये हमारे झूठे खुदाओं ने अल्लाह से डिपार्टमेंट छीन लिए किसी ने रोजी के निज़ाम पर कब्जा कर लिया किसी ने बारिश बरसाने के निज़ाम पर कब्जा कर लिया तो इस तरह हमारे खुदाओं ने अल्लाह ताला से डिपार्टमेंट छीन लिए वो ये मानते हैं कि अल्लाह ने ज़मीन आसमान को बनाया वो ये मानते हैं अल्लाह ने तमाम इंसानों को पैदा किया वो ये मानते हैं कि अल्लाह तबारक व ताली ने सारी कायनात बनाई लेकिन फिर उनका अकीदा है कि अल्लाह ताला थक गया और जिस तरह एक आदमी बूढ़ा हो जाता है फिर किसी काम का नहीं रहता ऐसा गंदा अकीदा उन्होंने अल्लाह के बारे में रखा इसीलिए कुरान पाक में है कि इन मुशरकिन के बुतों को बुरा ना कहो वरना ये खुदा को गाली देंगे सातवें पारे के एंड में यह आयत करीमा है कि इन मुशरकिन के खुदाओं को इन मुशरकिन के बुतों को बुरा ना कहो वरना ये खुदा को गाली देंगे तो अगर अल्लाह ताला की ज़रा भी मोहब्बत इनके दिल में होती तो बताइए ये अल्लाह को गाली दे सकते थे पता चले कि उनके नज़दीक अब उनका अकीदा यह था कि अल्लाह ताला मअतल हो चुका नऊज़बिल्लाजाल और हमारा अकीदा है कि हज़रत मीकाइल रोज़ी देते हैं बारिश बरसाते हैं और हज़रत मलकुल मौत मौत देते हैं अल्लाह इनका मोहताज नहीं और ये जो काम करते हैं बी इजन करते हैं ये जो काम करते हैं बी इजन करते हैं अल्लाह की मशीयत के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता अम्बिया हों फरिश्ते हों अलिया हों उन्हें जो मकाम मरतबा दिया अल्लाह ने और इनकी सारी कुदरत भी इजन है ये मुसलमानों का अकीदा है और हम किसी नबी को वली को या फरिश्ते को खुदा इला नहीं समझते और मुशरकिन उन्हें खुदा और इला समझते हैं यानी बुतों को अपने झूठे मबूदों को तो अकीदा बयान हुआ वो बेपरवाह है किसी का मोहताज न नहीं और तमाम जहां उसका मोहताज है तीसरा अकीदा ये लिखा कि अकल से अल्लाह की ज़ात को पहचान लेना यह मुमकिन नहीं है क्योंकि अकल की रसाई जहां तक है तो यूं कहिए कि खुदा तक अकल की रसाई नहीं और जहां तक अकल की रसाई है वो खुदा नहीं और जो खुदा की शान है वहां तक अकल की रसाई नहीं तो इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात को समझने के लिए वही इलाही से मदद हासिल करना ज़रूरी है वही इलाही के बगैर अल्लाह की ज़ात और सिफात इंसान नहीं जान सकता जिस तरह उसकी ज़ात कदीम अजली अबदी है हमेशा हमेशा से है हमेशा हमेशा रहेगी उसी तरह उसकी सिफात भी हमेशा हमेशा से है हमेशा हमेशा रहेंगी उसमें फ़र्क वाकई नहीं होता ये एक ऐसा अकीदा है कि जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप तवज्जो करेंगे तो समझ में आ जाएगा मसलन हमें एक इल्म की सिफत है जब हम मोन्टिसरी में थे तो हमारा इल्म बहुत महदूद था जब मैट्रिक में पहुंचे तो हमारा इल्म और बढ़ गया जब हमने पीएचडी की तो हमारा इल्म और बढ़ गया और जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा हमारे इल्म में इजाफा होता रहा अल्लाह तबारक व ताली इस तरह के इजाफे से पाक है उसका इल्म हमेशा हमेशा से है हमेशा हमेशा रहेगा चीजें बदलती रहती हैं उसके इल्म में कोई तब्दीली वाकई नहीं होती इसी तरह कल आपने एक बात कही थी आज एक बात कह रहे हैं परसों एक बात कहेंगे तो आपका कलाम कल भी था आज भी है और परसों भी होगा अल्लाह तबारक व ताली का कलाम भी कदीम है हमेशा हमेशा से जो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा सलाम से अपने हबीब से जो फरमाया जो कुरान नाजिल हुआ ये सारा कलाम कदीम है हाँ इसका जहूर वक्त पर हुआ जब लोगों को ज़रूरत महसूस हुई उसके मुताबिक इसका जहूर हुआ जैसे कुरान पाक लोहे महफूज में था दो दो आयतें तीन तीन आयतें नाजिल होती थी तो जैसी ज़रूरत होती वैसी आयतें नाजिल होती लेकिन कुरान ये अल्लाह का कलाम है और वो कदीम है अजली अबदी है अल्लाह की ज़ात और सिफात के अलावा कोई चीज़ कदीम नहीं है मतलब ये कि हर चीज़ जो अल्लाह की ज़ात और सिफात के अलावा है पहले न थी अल्लाह ने पैदा फरमाई उसका कोई बाप नहीं न बेटा न बेटी न बीवी और जो यकीदा रखे वो काफिर है वो ही है यानी खुद जिंदा है और हमेशा हमेशा से जिंदा है हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा और वो कयूम है सबकी जिंदगी उसके दस्ते कुदरत में है जिसे जब चाहे जिंदा करे और जब चाहे मौत दे वो हर कमाल खूबी का जामे है जिस चीज में ऐब है नुक्स है अल्लाह उससे पाक है हर खूबी का जमे है और जो ऐब है उससे अल्लाह ताला बोले पाक है झूठ दगा खयानत जुल्म जहालत बेहयाई ये जितने उयूब हैं ये अल्लाह की ज़ात पर मुहाल है नामुमकिन है इसलिए अल्लाह ताला की तरफ किसी भी ऐब की नस्बत करना कुफर है किसी का इंतकाल हो जाए जवान बेटे का अब इंतकाल के गम की वजह से माँ या बाप ये कह दें कि अल्लाह ने हमारा जवान बेटा ले लिया अल्लाह को जरा भी रहम नहीं आया काफिर हो जाएंगे क्योंकि अल्लाह को रहम नहीं आया गोया कि अल्लाह ने जुल्म किया और अल्लाह की तरफ ऐब की नस्बत करना यह क्या है कुफर है दुनिया की कोई भी बात करनी हो हंसी मजाक करना हो तो इंसान दुनिया के मामला में करे तो उसमें कुफर के इम्कान बहुत कम है लेकिन जब अल्लाह की बात हो रही हो रसूल की बात हो रही हो कुरान की बात है हदीस की बात है सुन्नत की बात है दीन की बात है मस्जिद के मुतालिक गुफ्तगु है या जन्नत जहन्नम के मुतालिक आखरत के मुतालिक कब्र के मुतालिक सौ मरतबा या हज़ार मरतबा सोच लें कि मैं जो जुमला बोल रहा हूँ कहीं मुझे काफिर ना कर दे किसी को हंसाने के लिए कि हदीस बाग में है बस अवकात ऐसा होता है कि इंसान हंसाने के लिए किसी को जुमला कहता है तो जो लोगों को हंसाने के लिए इस तरह के अल्फाज कहता है वो झूठ के मुतालिक है तो फरमाया कि वो रोता हुआ जहन्नम में जाएगा तो जब झूठ इंसान को जहन्नम में ले जाता है तो कुफर तो वो तो बर्बाद करने वाली शय है हयात कुदरत सुनना देखना कलाम इल्म इरादा ये उसकी सिफात जातियां हैं हयात जिंदगी कुदरत सुनना देखना कलाम इल्म इरादा मगर अल्लाह ताला कान से पाक है आंख से पाक है हमारा सुनना कान से है हमारा देखना आंख से है हमारा बोलना जबान से है अल्लाह कान से आंख से जबान से पाक है उसका सुनना देखना कलाम करना कान आंख जबान से नहीं तो ये सब अजसाम हैं और अल्लाह अजसाम से पाक है हर बारीक से बारीक आवाज को सुनता है हर बारीक से बारीक जो खुरबीन से भी नजर ना आए अल्लाह उसे देखता है हर मौजूद को देखता है और हर मौजूद को सुनता है उसका कलाम आवाज से पाक है ये अकीदा समझ लें अल्लाह का कलाम आवाज से पाक है क्योंकि आवाज नाम है हरूफों का और हरूफ पैदा होते हैं जबान की हरकत दाढ़ों दांतों और इनके मिलाप से और आवाज पैदा होने के लिए हवा का मीडियम चाहिए कि हवा के अंदर आवाज की लहरें पैदा होती हैं और ये सारे अजसाम हैं सब चीजें हादिस हैं अल्लाह ताला इन चीजों से पाक है उसका इल्म हर हर चीज को घेरे हुए है सबको अजल में जानता था अब जानता है अब तक जानेगा चीजें बदलती हैं उसका इल्म नहीं बदलता यानी जो होने वाला है अल्लाह ताला हमेशा से जानता है जो हो गया जो होने वाला है जो हो रहा है सब कुछ जानता है दिलों के ख्याल पर भी उसे खबर है उसके इल्म की कोई इंतहा नहीं उसका इल्म लामहदूद है गैर मुतनाही है वो गैब और शहादत सबको जानता है गैब का इल्म और शहादत का इल्म गैब पोशीदा को कहते हैं और शहादत जाहिर को कहते हैं जो चीजें हम आंख से कान से नाक से जबान से या छू कर महसूस करते हैं उसे इल्म शहादत कहते हैं हम जिस चीज़ को देख रहे हैं वो भी हमारे सामने जाहिर है जो आवाज़ सुन रहे हैं वो भी जाहिर है तो शहादत का इल्म हो या गैब का इल्म इसकी दो किस्में हैं एक ज़ाती इल्म है एक अताई इल्म है तो शहादत यानी ज़ाहिरी इल्म या पोशीदा इल्म ज़ाती इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और हमारा इल्म चाहे वो गैब के मुतालिक हो चाहे वो जाहिर के मुतालिक हो वो अल्लाह की अता से है वो हर शे का खालिक है हकीकतन रोज़ी पहुंचाने वाला वही है अम्बिया फरिश्ते अलिया ये तो वसीला हैं अल्लाह ताला डायरेक्शन से पाक है वो जगह से पाक है वो जमाने से पाक है वो हरकत से पाक है वो सुकून से पाक है यानी हरकत जनाब चलना सुकून से बना रुक जाना तो वो चलने से और रुक जाने से पाक है वो शक्ल और सूरत से पाक है इन तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला पाक है फिर सवाल पैदा होता है कि जब हम कहते हैं डायरेक्शन से भी पाक है वो प्लेस और जगह से भी पाक है वो ज़माने से भी पाक है वो हरकत सुकून से शक्ल सूरत से पाक है तो फिर अल्लाह की ज़ात सिफात की मार्फत कैसे हासिल हो तो फरमाएं कि कुरान और हदीस में अल्लाह के मुतालिक जो फरमाया गया उस पर ईमान रखो और जिसके मुतालिक नहीं बताया गया उसमें गौर और फिक्र करने की तुम्हें हाजत नहीं दुनिया की जिंदगी में अल्लाह का दीदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास है और आखिरत में हर सुन्नी मुसलमान के लिए मुमकिन बल्कि इन नसीब होगा रहा कलबी दीदार या ख्वाब में तो ये दीगर अम्बिया को हासिल है बल्कि अलिया को भी ख्वाब में अल्लाह की ज्यारत नसीब हुई हमारे इमाम आजम के बारे में यह रिवायत है कि उन्होंने सौ बार ख्वाब में अल्लाह की ज्यारत की मगर ये बात याद रखें कि अल्लाह तला जिसम से पाक है कोई निगाह अल्लाह की ज़ात का अहाता नहीं कर सकती इसका मतलब क्या मसलन ये पिलर आप देखें तो इस पिलर को आप देखते हैं तो ये पूरा पिलर आपको नजर आ रहा है अगर यूं देखा जाए तो आपके जहन के अंदर जो इसकी पिक्चर बन रही है वो तो पूरी पिक्चर आपके दिमाग के अंदर वो आप यूं समझे दाखिल हो चुकी है और आपकी निगाहों ने इसका पूरा अहाता कर लिया घेर लिया अल्लाह की ज़ात का कोई अहाता नहीं कर सकता तो रसूलुल्लाह ने भी दीदार किया और क्यामत के दिन नेक मोमिन अल्लाह का दीदार करेंगे मगर अल्लाह की ज़ात का कोई अहाता नहीं कर सकता अल्लाह का दीदार बिला कैफ है बिला कैफ का मतलब क्या है यानी देखेंगे ये नहीं कह सकते कि कैसे देखेंगे ये बड़ा अहम मसला है अल्लाह का दीदार बिला कैफ है यानी देखेंगे और ये नहीं कह सकते कि कैसे देखेंगे क्यों किसी चीज को देखते हैं तो कोई चीज या तो दूर होती है या नजदीक वो देखने वाले की किसी समत में होती है दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे वे चांद को भी देखते हैं तो चांद ऊपर है एक फासला है एक डायरेक्शन है तो किसी चीज को हम देखते हैं तो उस चीज का एक फासला होता है या तो करीब होती है या दूर एक जहद यानी डायरेक्शन होती है कि दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे और जब हम अल्लाह को देखेंगे तो इन तमाम बातों से पाक है ना वहां डायरेक्शन है और ना वहां कोई फासला बयान किया जा सकता है ना उसे करीब दूर नजदीक दाएं बाएं आगे पीछे ये समतों से वो पाक है फिर ये सवाल होगा कि जब ऐसा है तो फिर दीदार कैसे होगा मसला यह है कि इंसान की अकलें वहां तक प्रवास करती हैं जिस चीज को इंसान ने देखा हो तो शुरू में अर्ज कर दिया गया कि इंसान की अकल जो है वो अल्लाह तक रसाई नहीं रखती तो इसलिए इस वक्त तो हम इसकी कोई कैफियत नहीं बयान कर सकते क्योंकि वो कैफ है उसका दीदार क्या है बिला कैफ है और जो बिला कैफ है उसकी कैफियत क्या बयान की जा सकती है तो उन्होंने कहा कि यही तो कहा जाता है देखिए मैं सदरुशरिया तरीका हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमजद अली ख़ान अली रहमा की इबारत पढ़ के सुनाता हूँ कितना प्यारा उन्होंने जवाब दिया ये बाहर शरीयत का पहला हिस्सा है फिर रहा यह कि क्यों कर होगा यही तो कहा जाता है कि क्यों कर को यहां दखल नहीं इन ताला जब देखेंगे उस वक्त बता देंगे इसकी सब बातों का खुलासा यह है कि जहां तक अकल पहुंचती है वो खुदा नहीं जहां तक अकल पहुंचती है वो खुदा नहीं और जो खुदा है उस तक अकल पहुंचने वाली नहीं वक्त दीदार निगाह उसका अहाता करे उसकी जात को घेर ले ये नामुमकिन है फ़ालुल्लिमा युरीद वो जो चाहे जैसा चाहे करे किसी को एतराज का हक हासिल नहीं वो जो करे वो अदल ही अदल है इस जुमले पर गौर कीजिएगा फ़ालुल्लिमा यूरीद वो जो चाहे जैसा चाहे करे किसी को एतराज का हक नहीं वो जो चाहे करे वो अदल है इंसाफ ही इंसाफ है और जिसको वो जन्नत देगा वो उसका फजल है और जिसे जहन्नम में डालेगा वो अल्लाह का अदल है जन्नत में सब अल्लाह के फजल ही से जाएंगे इबादत तो सिर्फ अल्लाह को राजी करने का जरिया है वरना इबादत जो है वो जन्नत में ले जाने वाली यानी यूं समझेंगे इबादत की वजह से जन्नत में गए ऐसा नहीं है अब कहेंगे इसका मतलब क्या तो इसका मतलब अल्लामा बैदावी अल रहमान ने समझाया अब ने फरमाया कि एक मजदूर आप रखते हैं और उसे कहते हैं कि जनाब आपको ये पूरे दिन काम करना है पूरे दिन आप काम करें और आपको पूरे दिन के काम के मसाल के तौर तो पर यानी मिसाल के तौर तो फी जमाना बनते हैं तीन सौ रुपये तो हमने कहा ये लीजिए तीन सौ रुपये अभी तीन सौ रुपये आपको मिल गए अब आप पूरे दिन काम करें तब बताइए पूरे दिन काम करने के बाद वो और किसी चीज का मुस्तक होगा आप मजदूरी तो पहले ही दे चुके तो अल्लामा बेदावी अल रहमत समझाते हैं फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बिन मांगे तुम्हें करोड़ों से जायद नेमतें अता फरमा दी अब ये इबादत उस नेमत के शुक्र में है और फिर फरमाते हैं कि कयामत के दिन एक ऐसा शख्स आएगा जिसने सत्तर साल अल्लाह की इबादत की होगी और अल्लाह ताला उससे फरमाएगा जा मेरी रहमत से जन्नत में चला जा तो वो कहेगा मालिक अगर तेरी रहमत से जाना था तो फिर मुझे इबादत का क्या सिला मिला तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसकी आंख निकालो और इसका वजन करो उसकी आंख निकाली जाएगी एक तरफ उसकी सत्तर साल इबादत रखी जाएगी दूसरी तरफ उसकी आंख रखी जाएगी तो आंख का पल्ला भारी होगा अल्लाह ताला फरमाएगा मेरी सारी नेमतें तो एक तरफ रही तू मेरी नेमत जो मैंने तुझे आंख की नेमत दी थी एक आंख की नेमत तेरी सत्तर साल इबादत जो है उसके शुक्राने में उसका शुक्राना अदा न कर सके अब बता तो वो कहेगा मालिक तो अपनी रहमत से मुझे जन्नत अता फरमा तो इमाम बेदावी रामा फरमाते हैं ये बताओ कि तुमने मजदूर को मजदूरी दे दी और फिर उसने मजदूरी सही अदा ना की तो सजा का मुस्तक है कि इनाम का मुस्तक है तो कहते हैं अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी सारी जिंदगी हम इबादत करें फिर भी अल्लाह की किसी एक नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते तो मिलनी चाहिए सजा लेकिन उसका फजल है कि वह जन्नत अता फरमाएगा तो इसलिए इबादत तो इसलिए है कि अल्लाह राजी हो जाए और जब वो राजी हो जाए तो सुबहान अल्लाह कितना करम होता है हजरत दाऊद सलात वसलाम ने अर्ज किया मालिक तो मुझे नेकियों का पल्ला दिखा तो अल्लाह ताला ने नेकियों का पल्ला दिखाया जमीन और आसमान से बड़ा जमीन और आसमान से भी बड़ा नेकियों का पल्ला है तो हजरत दाऊद सलाम ने अर्ज की मालिक इतना बड़ा नेकियों का पल्ला कौन ऐसा खुश नसीब होगा कि उसकी इतनी नेकियां हो कि ये इतना बड़ा नेकियों का पल्ला भारी हो जाए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए दाऊद अगर बंदा मेरी रजा के लिए मुझे सिर्फ मुझे राजी करने के लिए एक खजूर मेरी राह में दे और मुझे पसंद आ जाए तो मैं इसके नेकियों के पल्ले को भर दूंगा इसलिए इबादत जो है वो जरिया है किसी नेकी को कमतर न समझो न जाने कौन सी नेकी अल्लाह की बारगाह में ऐसी मकबूल हो कि रब राजी हो जाए किसी गुना को छोटा ना समझो न जाने कौन से गुना से अल्लाह नाराज हो जाए वो जो चाहे जैसा चाहे करे किसी को उस पर काबू नहीं और न कोई उसके इरादे से उसे रोकने वाला है लता खुदू सिनतों वाला नौम उसको ना ऊंग आती है और न नींद तमाम जहां का निगाह रखने वाला न थके न उकताए तमाम आलम का पालने वाला माँ बाप से ज्यादा मेहरबान हिल्म वाला बर्दाश्त करने वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया अल्लाह से बढ़कर कोई हलीम नहीं है सबसे बढ़कर वही हलीम है बर्दाश्त करने वाला है आपने फरमाया लोग अल्लाह को बुरा कहते हैं कोई कहता है अल्लाह की बेटी है कोई कहता है बेटा है कोई अल्लाह के बराबर बुतों को शरीक ठहराता है तो यहूदी ये कहते थे यहूदी जो है वो अल्लाह किस तरह तोहन करते थे वो कहते थे अल्लाह ताला ने छह दिन में पूरी कायनात बनाई इतवार को बनाना शुरू किया जुम्मे को अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बनाई हफ्ते के दिन नऊज में जालिक अल्लाह चूंकि थक गया था तो अर्श पे जाकर लेट गया नवजुबिल्ला तो कितनी बड़ी बेअदबी और कितनी बड़ी गुस्ताखी है जब रसूलुल्लाह ने यहूदी के मुंह से ये बात सुनी तो आपका चेहरा सुर्ख हो गया और आप जलाल में खड़े हो गए और आपने फरमाओ नादानो तुमने अल्लाह को अपने जैसा समझा हुआ है तो जो शख्स अल्लाह की ज़ात और सिफात को अपनी अकल से समझने जाएगा वह गुमराह हो जाएगा वही इलाही से अल्लाह की ज़ात सिफात की मार्फत हासिल होती है तो फरमाया कि अल्लाह ताला कितना हलीम है कि लोग उसे बुरा कहते हैं लेकिन फिर भी वो उन्हें रोजी अता फरमाता है नेमतें देता है ढील देता है लोग गुनाह करते हैं फिर भी नेमतों की बारिशें होती हैं उसी की रहमत टूटे हुए दिलों का सहारा उसी के लिए बड़ाई और अजमत है माओ के पेट में हुवल्लदी युसविरुकुम फिल अरहामी कई फयशा वही है जो तुम्हारी सूरतें तुम्हारी माओ के पेट में बनाता है जैसी वो चाहे इंसान को अपनी सूरत पर अगर फख्र है या वो आईने में अपनी शक्ल देखता है तो उसे शुक्र करना चाहिए कि रब ने कितनी प्यारी शक्ल बनाई है इतनी प्यारी शक्ल है इतनी प्यारी शक्ल है कि ज़रा सा फ़र्क हो जाए शक्ल ऐसी बिगड़ जाती है कि बसा अवकात इंसान घर से बाहर निकलने में भी शर्म करता मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं होंठ पर अगर दाना हो जाए और एक होंठ सूज जाए आप देखें शक्ल कैसी भयानक बन जाती है नाक सूज जाए तो शक्ल कैसी अजीब व गरीब हो जाती है तो अल्लाह ताला ने सबसे हसीन और खूबसूरत इंसान को पैदा फरमाया हजरत फुदैल बिन अयाज रहमत ताल के पास जब हारून रशीद गए थे और हजरत फजैल बिन अयाज ने पहले तो कहा कि मुझे आपसे मुलाकात नहीं करनी तो उन्होंने कहा मेरा हुक्म है तो आपने दरवाज़ा तो खोल दिया चराग को बुझा दिया और ख़ुद जो कमरे के कोने में छुप गए तो बादशाह वक्त हारून रशीद आपको ढूंढ रहा था और टटोल रहा था तो इसका हाथ आपके हाथ पर पड़ा तो हजरत फजैल बिन अयाज ने इसके हाथ पर हाथ रखा और फिर कहा कितना प्यारा प्यारा नरम नरम हाथ है अगर ये नरम नरम जिसम जहन्नम में जलेगा तो कितने अफसोस की बात है बस ये कलीमा सुनना था कि हजरत हारून रशीद रोते रोते बेहोश हो गए इतनी प्यारी अल्लाह ने शक्ल अता फरमाई अगर इंसान ने अल्लाह की फरमाबरदारी ना की और ईमान बर्बाद हो गया तो क्या अंजाम होगा फरमाया जहन्नम में जब इंसान जाएगा तो इंसानी शक्ल पर नहीं होगा क्योंकि ये शक्ल शक्ल मोहम्मदी पर है इंसान को अल्लाह ने शक्ल मोहम्मदी अता फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये हुजूर जो अल्लाह के महबूब है उनकी शक्ल मुबारक है कि अल्लाह ताला ने उन्हें इस शक्ल मुबारक में दुनिया में मबूज फरमाया तो फरमाया जब जहन्नम में कोई जाएगा काफिर तो उसका ऊपर वाला होंठ जो है उसे खींच कर आधे सर तक खींच दिया जाएगा और नीचे वाला होंठ जो है उसे खींच दिया जाएगा वह नाफ तक लटक रहा होगा दांत बाहर की तरफ निकले हुए होंगे और इतना बड़ा जिसम हो जाएगा कि एक एक दांत बड़े बड़े पहाड़ों से भी बड़ा बड़ा होगा तो इससे आप अंदाजा कीजिए कि वो इंसान की कैसी अजीब गरीब शक्ल होगी माओ के पेट में जैसी चाहे सूरत बनाने वाला गुनाहों को बख्शने वाला तोबा कबूल करने वाला कहर गजब फरमाने वाला अगर बाप औलाद की तरबियत करता है सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा हो जलाल ही जलाल हो तो भी बच्चे की तरबियत सगी नहीं होती और दूसरी तरफ सिर्फ प्यार ही प्यार हो तब भी बच्चा बिगड़ जाता है दोनों का इम्तजाज चाहिए आलमीन रहीम और करीम भी है कहार और जब्बार भी है उसके गजब से भी डरना चाहिए और उसकी रहमत से उम्मीद भी रखनी चाहिए हाँ उसकी रहमत उसके गजब पर हावी है उसकी पकड़ नहायत सख्त है जिससे बे उसके छुड़ाए कोई छूट नहीं सकता यानी अल्लाह ना छोड़े तो कोई अल्लाह से छोड़ा नहीं सकता इन न बदश रब का शदीद बेशक तेरे रब की पकड़ जरूर शदीद है वो चाहे तो छोटी चीज को वसी कर दे और वसी को समेट दे जिसको चाहे बुलंद कर दे और जिसको चाहे पस्त जलील को इज्जत दे दे और इज्जत वाले को जलील कर दे कुल्ला मालिकल मुल्क तो तिल मुल्क मन तशा ए मालिक तू जिसे चाहे बादशाहत दे व तंजीमुल्क मिम्मन तशा और जिससे चाहे तू बादशाहत ले ले वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा जिसे चाहे तो इज्जत दे और जिसे चाहे तो जलील कर दे यदि कल खैर सारी भलाइयां तेरे ही दस्ते कुदरत में है इन न नकाला कुल्ली शहीन कदीर बेशक तू हर चाहत पर कादिर है जिसको चाहे राह रास पर लाए और जिसको चाहे सीधी राह से अलग कर दे और सीधी राह से उसे अलग फरमाता है जिससे वो नाराज होता है जिसे चाहे अपना नजदीक बना ले और जिसे चाहे मरदूत कर दे जिसे जो चाहे दे और जो चाहे छीन ले वो जो कुछ करता है या करेगा वो अदलो इंसाफ है जुल्म से पाक व साफ है न्याय बुलंदो बाला है वो सबको घेरे हुए है कोई उसको घेर नहीं सकता नफा और नुकसान उसी के दस्ते कुदरत में है यानी ज़ाती तौर पर नफा नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है अंबिया अलिया और फरिश्ते या दीगर मखलूक अगर कोई नफा देते हैं या नुकसान देते हैं तो भी ला देते हैं मजलूम की फरियाद को पहुंचता है और जालिम से बदला लेता है उसकी मशीयत और इरादे के बगैर कुछ नहीं हो सकता मगर अच्छे काम पर खुश होता है और बुरे काम पर नाराज मतलब ये कि अल्लाह तबारक व ने बंदे को इख्तियार दिया वो शख्स जो चोरी करने का इरादा करता है अल्लाह ताला चाहता तो उसके पांव और हाथ को जाम कर देता वो शख्स जो है चल ही ना सकता लेकिन ये उसकी मशीयत है कि दुनिया के अंदर उसे ढील दिए कि वो अच्छा रास्ता इख्तियार करना चाहे तो अच्छा इख्तियार करे और बुरा इख्तियार करना चाहे तो बुरा इख्तियार करें क्योंकि ये इम्तिहान गाह है और इम्तिहानी रूम में आप समझेंगे कमरा है इम्तिहान के अंदर बच्चे को वो कागज दे दिए जाते हैं अब वो जो चाहे लिखना चाहे लिखे अगर उसके सर पर उस्ताद खड़ा हो जाए और कहे ये मत लिखो ये लिखो तो फिर वो इम्तिहान नहीं है तो फरमाया कि ये दुनिया इम्तिहान गाह है बंदा जैसा इरादा करता है वैसी अल्लाह ताला उसके जिसम में ताकत पैदा फरमा देता है मसलन किसी को चलकर मस्जिद में जाने का इरादा करता है तो उसके पाँव में अल्लाह कुत पैदा कर देता है वो चलकर मस्जिद जाता है और कोई गुनाह की तरफ चलना चाहता है वो चाहे तो पाँव रोक दे लेकिन ये दुनिया जो है वो आलम इम्तिहान है इसलिए उसे ढील दी जाती है मगर अच्छे काम पर खुश होता है और बुरे से नाराज होता है उसकी रहमत है कि ऐसे काम का हुक्म नहीं फरमाता जो ताकत से बाहर है ये भी एक बड़ा अहम मसला है कि शरीयत का कोई मसला आपके सामने आए और हम कहें कि जनाब ये अल्लाह ताला ने हमारी ताकत से ज्यादा हम पर बोझ रख दिया ये भी कुफर है इसलिए कि अल्लाह ताला किसी पर कोई ताकत से ज्यादा हुक्म नाफिज नहीं फरमाते अगर हमें कोई हुक्म मुश्किल लगता है तो यह हमारी अपनी कोताही है अल्लाह अज्जवजल पर सवाब देना अजाब देना बंदे के साथ लुत्फ और मेहरबानी करना ये उसके साथ वो करना जो बंदे के हक में बेहतर हो अल्लाह पर कुछ वाजिब नहीं वो मालिक अलल इतलाक है जो चाहे करे और जो चाहे हुक्म दे हाँ उसने अपने कर्म से वादा फरमा लिया है कि मुसलमानों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा और अपने अदल के तकाजे के मुताबिक कुफार को जहन्नम में और उसके वादा वईद बदलते नहीं और उसने वादा फरमा लिया है कि कुफर शिरक के सिवा हर छोटे बड़े गुनाह को जिसे चाहे मुआफ फरमा देगा यानी जिसका खात्मा ईमान पर हुआ वो बिल आखिर जन्नत में जरूर जाएगा उसके हर फेल में कसीर हिकमतें हैं चाहे वो हिकमतें हमें मालूम हो या न हो उसे अपनी हमत बालिगा के मुताबिक आलम इसबाब में इसबाब मुहैया कर दिए आंख देखती है कान सुनता है आग जलाती है पानी प्यास बुझाता है वो चाहे तो आंख सुने कान देखे पानी जलाए आग प्यास बुझाए ना चाहे तो लाख आंखें हों दिन को पहाड़ न सूझे करोड़ आगे हों एक तिनके पर दाग न आए किस कहर की आग थी जिसमें इब्राहिम सलाम को काफरों ने डाला कोई पास न जाता था गोफन में यानी मिनजनिक एक मशीन है जो हाथ से चलती थी उसमें रखकर काफरों ने आपको आग की तरफ फेंका जब आग के मुकाबिल पहुंचे जिबरील अमीन हाजिर हुए अर्ज की कि इब्राहिम कुछ हाजत है फरमाया हाजत है तो सही मगर आपसे नहीं है अर्ज की फिर उसी से कहिए जिससे हाजत है फरमाया मुझे इजहार करने की हाजत नहीं मेरा रब मेरे हाल को मुझसे ज्यादा जानता है इशाद हुआ या ना रुकूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम ए आग ठंडी और सलामती हो जाए इब्राहिम पर इस इर्शाद को सुनकर रूए जमीन पर जितनी आगे थीं सब ठंडी हो गईं कि शायद मुझी से फरमाया गया हो और ये तो ऐसी ठंडी हुई कि महक्कीन फरमाते हैं अगर इसके साथ वह सलामन का लफ्ज न फरमाया जाता कि इब्राहिम पर ठंडी और सलामती हो जा तो इतनी ठंडी हो जाती कि इसकी ठंडक हजरत इब्राहिम को से तकलीफ पहुंचाती कहने का मकसद और मफहम यह है कि हम ये अकीदा न रखें कि आंख है तो हम देखते हैं हम ये अकीदा रखें कि देखने की क़वत देने वाला अल्लाह ताला उसने आंख को जरिया बनाया है वो अगर चाहे तो कान सुनने लगे और कान देखने लगे और आंख जो है सुनने लगे और कान देखने लगे वो चाहे तो लाखों आंखें हों कुछ नजर ही ना आए वो चाहे तो पानी जो है वो जलाने का काम दे जैसा कि इमाम जलालुद्दीन सयूती और शाफी अल रहमा ने लिखा ये इमाम जलालुद्दीन सयूती और शाफी अल रहमा वो बुजुर्ग हैं क्या आपने पिछहत्तर मरतबा रसूल्लाह का बेदारी में दीदार किया ये इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी रहमा लिखते हैं कि जिस शख्स ने यजीद की फौज में हिस्सा लिया और इमाम हुसैन के खिलाफ जो बाईस हजार का लश्कर जो करबला में आया था वो सब बड़े जलील और रसवा होकर मरे यहां तक के जिसे बाद में खबर मिली और उसके दिल ने खुशी महसूस की और उसके दिल ने यह तमन्ना की कि काश मैं भी करबला में होता और इमाम हुसैन के मुकाबले में होता तो यजीद मुझे इनाम देता तो वो भी हलाक बर्बाद हुआ तो लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कि इमाम हुसैन और अहल बैत आधार पर जिसने जुल्म किया वो बड़ा जलील और रस्वा हुआ और हलाक हुआ तो एक बुढ़ा बैठा हुआ था तो वो बूढ़ा कहता है इन लोगों की बनाई हुई बातें हैं मैं भी यजीदी लश्कर में था देखो कितने साल गुजर गए मुझे कुछ भी नहीं हुआ बस ये कहना था कि चराग की आग जो थी वो शोला बन गई और उसे लग गई अब उसके कपड़ों में आग लग गई तो वो दरिया के किनारे बैठे हुए थे रावी कहते हैं कि उसने दरिया में छलांग लगा दी तो देखने वालों को ऐसा महसूस हो रहा था कि दरिया में वो डुबकियां खा रहा था आग और भड़क रही थी दरिया का पानी आग को बुझाता है लेकिन अल्लाह ना चाहे तो दरिया का पानी आग को नहीं बुझा सकता तो ये है अकीदा तोहहीद के जितने इसबाब हैं हकीकत में ये तो सिर्फ इसबाब हैं जरिया है हकीकत में नूर देने वाला रोजी देने वाला सारी नमतें देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है और बाकी ये सब जराए हैं वसाइल हैं ये अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का है जहां तक ताल्लुक है शिरक का तो समझ लीजिए कि शिरक जो है उसकी तीन किस्में होती हैं असल में बात यह है कि जब इंसान अल्लाह की शान को नहीं समझता तो वो फिर ऐसा करता है कि वो ज़रा सी बात को यह समझता है कि ये अल्लाह के बराबर हो गया जैसे मिसाल के तौर पर इस्माइल देलवी और अशरफ अली थानवी अशरफ अली थानवी ने बहशती जेवर में और इस्माइल देलवी ने तकवीतुल ईमान में वो क्या कहते हैं कि किसी के मज़ार पर जाकर झाड़ू लगाना ये भी शिरक है अब आप बताइए शिरक किसे कहते हैं कि जो काम हमें अल्लाह के लिए करना है वो काम हम किसी गैरुल्लाह के लिए करें तो क्या अल्लाह की कबर है क्या हम अल्लाह की कबर पर जाकर कोई झाड़ू लगाते हैं अब देखें इन्होंने वमा कदर का कदरी अल्लाह की शान उन्होंने ना जानी जैसा कि जाननी चाहिए थी उन्होंने ये कह दिया किसी के मजार पर जाकर सिर्फ झाड़ू लगाई तो वो काफिर हो गया मुशरक हो गया मुर्तद हो गया उसकी बीवी निकाह से बाहर हो गई और वो जहन्नमी कुत्ता है कितना बड़ा जुल्म है ये ऐसे ही लोग हैं जिनके मुतालिक रसूलुल्लाह ने फरमाया मुझे मेरी उम्मत से सबसे बड़ा जो खतरा है उन ओलमा से है जो खुद गुमराह होंगे और दूसरों को गुमराह करने वाले होंगे कंजुल उमाल में यदि से बाग है इसी तरह हमने कहा कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कायनात की इब्तदा से लेकर इंतहा तक इल्म अता फरमाया यहां तक के कयामत का इल्म दिया यहां तक के जन्नती जन्नत में दाखिल हो गए जहन्नमी जहन्नम में दाखिल हो गए वहां तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम बातों को जानते हैं और इसके सबूत में बुखारी की हदीसें हैं बुखारी और मुस्लिम शरीफ की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और आपने फजर से लेकर मगरब तक अवलिन आखरीन का इल्म साहबा कराम को बताया और साहबा कहते हैं कि किसी चीज को रसूलुल्लाह ने बाकी ना छोड़ा यहां तक के कायनात की इब्तदा से लेकर एंड तक जितने परिंदे हवा में उड़ने वाले थे एक एक परिंदे के एक एक पर का रसूलुल्लाह ने जिक्र किया अब ये सारी हदीसें हैं और हदीसें सैकड़ों की तादाद में ऐसी हैं लेकिन आदमी जो अकल से सोचता है और जिसने अल्लाह की शान ना समझी उसने सोचा कि अल्लाह का इल्म तो इतना ही है कायनात के बनाने से लेकर कयामत तक तो कहा कि अल्लाह का भी इल्म इतना और रसूलुल्लाह का इल्म ये तो बराबरी हो गई हालांकि अल्लाह का इल्म लामहदूद है वो गैर मुतनागी है और जिसने अल्लाह का इल्म इतना ही समझा वो काफिर है क्योंकि उसने अल्लाह के इल्म को महदूद समझा अल्लाह हजरत इमाम अहल सुन्नत ये सारे उलूम जिक्र करने के बाद कहते हैं कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ने अव्वलीन आखरीन का इल्म दिया मगर अल्लाह ताला के इल्म के मुकाबले में रसूलुल्लाह के इल्म की जो हैसियत फरमाई फरमाया करोड़ों समंदर हों कितने समंदर करोड़ों समंदर हों उसके मुकाबले में एक कतरे का करोड़वा हिस्सा हो तो उस एक कतरे के करोड़वें हिस्से को करोड़ों समंदरों से क्या निस्बत है फरमा ये नस्बत भी अल्लाह और रसूल के इल्म में नहीं है अल्लाह का इल्म इतना वसी है अला हजरत इमाम सुन्नत ने अल्लाह की शान की मार्फत हासिल की और इन से तैयबा का इनकार नहीं किया बल्कि कहा कि ये इल्म तो महदूद है इसकी इब्तदा भी और इंतहा भी है और अल्लाह का इल्म लामहदूद है फिर अल्लाह का इल्म ज़ाती है और रसूल्लाह का इल्म जो है वह अल्लाह की अता से है जाती और अताई कभी बराबर हरगिज नहीं हो सकते तो तोगीद और शिरक को समझना हो तो तीन बातें हैं एक है अल्लाह की तरह किसी और को वाजिबुल वजूद समझना ये शिरक है जैसे मजूसी जो हैं वो ये कहते हैं कि दो खुदा हैं मजूसी कहते हैं दो खुदा हैं एक शर का खुदा है और एक खैर का खुदा है और दोनों को वो कदीम मानते हैं वाजिबुल वजूद मानते हैं तो यूं समझिए कि जैसी अल्लाह की ज़ात है किसी के मुतालिक ये समझना कि दूसरी ज़ात वो अल्लाह की ज़ात की तरह है तो ये ज़ात में शिरक हुआ और ये भी शिरक है अल्लाह के सिवा कोई वाजिबुल वजूद नहीं दूसरी चीज़ है अल्लाह तबारक व ताली की इबादत में किसी को शरीक समझना जैसे मुशरकिन वो अपने बुतों की पूजा करते थे तो किसी को इलाह समझना खुदा समझना अल्लाह का बेटा समझना अल्लाह की बेटी समझना ये सब शिरक है और शिरक फिल इबादत जो है ये ने मक्का में पाया जाता था तीसरी चीज है शिरक फिल सिफात शिरक फिल सिफात का मतलब क्या है शिरक फिल सिफात का मतलब ये है कि सिफात में अल्लाह के बराबर किसी को समझना अब अल्लाह के बराबर समझने से क्या मुराद है समझ ये मुराद है कि अल्लाह की सिफात जाती हैं तो अल्लाह के अलावा किसी की सिफत जाती समझी जाए तो ये बराबरी हुई हम मुसलमान किसी की सिफत यहां तक रसूलुल्लाह की सिफात को भी जाती नहीं समझते बल्कि क्या कहते हैं ये अल्लाह की अता है कुरान मजीद फुकान हमीद में ऐसी कई आयतें हैं जिससे इस मफहम की वजाहत होती है अब इसकी तफसील जानना चाहें तो शिर की हकीकत किताब से पढ़ लें मुख्तसरा ये सूर तोबा आयत नंबर एक सौ उनतीस कुल ए महबूब आप कह दें हसबी अल्लाह मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है सुर अनफाल आयत नंबर सिक्सटी फोर या अयोहन नबीयो हसबुक अल्लाह व मन तबा का मिनलमिन ए नबी आपको अल्लाह भी काफ़ी है और आपकी पैरवी करने वाले मोमिन भी काफी हैं अब एक तरफ तो ये कि कह दीजिए मुझे अल्लाह काफी है दूसरी तरफ है कि अल्लाह भी काफी है और मोमिन भी काफी हैं और दूसरा मसला यह है कि जब ये कह दिया गया कि अल्लाह काफी है तो फिर मोमिन जो साहबा कराम है उनके जिक्र की जरूरत क्या थी तो मुराद यही है कि अल्लाह ज़ाती तौर पर काफी है और अल्लाह ताला ने मोमिन को यह खिदमत अता फरमाई ये सआदत अता फरमाई कि वो रसूलुल्लाह के साथ दीन की खिदमत करने वाले हैं इसी तरह देखें सूर्य बकरा आयत number one hundred forty three इन अल्लाह बिन नासिल रऊफ रहीम सूर्य बकरा आयत number one hundred forty three बेशक अल्लाह ताला जरूर लोगों पर रऊफ रहीम है सूर्य तोबा आयत नंबर एक सौ अट्ठाईस लकद जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैमा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम सूर्य तौबा आयत नंबर 128 हुजूर को रऊफ और रहीम कहा गया अल्लाह भी रऊफ और रहीम रसूलुल्लाह भी रऊफ और रहीम और ये कुरान की दोनों आयतें हैं तो बज़ाहिर तो कोई जो नादान होगा वो कहेगा जी बराबरी हो गई एक तरफ कुरान शिरक से मना करता है दूसरी तरफ सूर्य बकरा आयत number one hundred forty three में फरमा रहा है कि अल्लाह रऊफ रहीम है और फिर सूर्य तोबा आयत नंबर एक सौ अट्ठाईस में फरमा रहा है कि रसूलुल्लाह रऊफ रहीम है तो ये बराबरी नहीं है अल्लाह रऊफ रहीम है जाती अल्लाह का रऊफ रहीम होना जाती है और रसूलुल्लाह का रऊफ रहीम होना अतई है अल्लाह का रऊफ रहीम होना लामहदूद है गैर मुतनागी है और रसूलुल्लाह का रऊफ रहीम होना इतना है जितना अल्लाह ने बनाया अल्लाह का रऊफ़ और रहीम होना हमेशा हमेशा से है अल्लाह की हर सिफत कदीम है और अल्लाह रऊफ़ और रहीम है जब से अल्लाह ने उन्हें रऊफ़ और रहीम बनाया सूर्य नमल आयत नंबर सिक्सटी फाइव कुल महबूब आप कह दें ला यालम मन फिस समावात वल अर्दिल गईब आप फरमा दें कि आसमानों और ज़मीन में जो भी हैं वो गैब नहीं जानते सिवाय अल्लाह के यानी अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता सुर जिन आयत नंबर छब्बीस सत्ताईस आलिमी फला युज हिरु अला गईबी अहदन इल्ला मन तदामिर रसूल गैब का जानने वाला रब गैब का इल्म अपने चुने हुए रसूलों को देता है अब वहां पर फरमाया गैब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता और सूर्य जिन आयत नंबर छब्बीस और 27 में फरमाया इल्ला मन तदा रसूल रसूल अल्लाह अपने चुने हुए रसूलों को गैब का इल्म अता फरमाता है तो अब दोनों आयतें टकरा नहीं रही वहां मुराद ये कि जाती गैब अल्लाह के पास है और जिसे भी गैब का इल्म मिला अल्लाह की अता से मिला और इतना मिला जितना अल्लाह ने अता फरमाया सुरे शूरा आयत नंबर फोर्टी नाइन यहबुलम यशा इनाथा व यहबुलम यशा अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है बेटी देने वाला अल्लाह बेटा देने वाला कौन अल्लाह लेकिन सुर मरियम आयत नंबर 19 में है कि जबरील अमीन हजरत मरियम से कहते हैं कौला इन नमा अन रसूल रबिक मैं तेरे रब की तरफ से भेजा हुआ हूं ली आहबा लकी गुलामन जकिया मैं इसलिए आया हूं ताकि आपको पाकिजा बेटा दू ली आहबा मैं दूं तो जबरील कह रहे हैं मैं इसलिए आया हूं आपको पाकिजा बेटा देने के लिए आया हूं तो बेटा देने वाला कौन है वो अल्लाह ताला है तो यहां यही मुरादे की कि ये नस्बत मजाजी है हकीकी तौर पर देने वाला अल्लाह ताला है और जबरील जो है अल्लाह के हुक्म से जरिया है सुर जुमर आयत नंबर 42 टू अल्लाह यतवफल अनफुस रूहें अल्लाह ही कब्ज करता है मौत अल्लाह ही देता है सूर्य सज्जा आयत नंबर ग्यारह कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत लदी वक्किल अबिकुम आप कह दीजिए कि तुम्हें मौत मलकुल मौत देंगे एक तरफ कुरान कह रहा है कि अल्लाह मौत देता है दूसरी तरफ कुरान ये कहता है मलकुल मौत मौत देते हैं तो अल्लाह का मौत देना यह हकीकी है और मलकुल मौत के मुतालिक ये कहना कि वो मौत देते हैं वो मजाजी नस्बत है यानी वो वसीला है अल्लाह ने उन्हें जरिया बनाया है और अल्लाह ताला हरगिज किसी का मोहताज नहीं है दूसरी तरफ हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है शिफा कौन देता है अल्लाह देता है सूर्य आल इमरान आयत नंबर 49 में है वह उबरी उल अकमा वल अब रसब ओहिल मऊता बीजनल्ला हजरत ईसा सलाम कहते हैं मैं मादरजात अंधों को शिफा देता हूँ और बर्स के मरीजों को मैं शिफा देता हूँ और मैं मुर्दे जिंदा करता हूं बीजन तो पता चला कि हकीकी तौर पर मुर्दा जिंदा करने वाला और शिफा देने वाला अल्लाह है लेकिन अल्लाह के मकबूल बंदे शिफा भी देते हैं और मुर्दे भी जिंदा करते हैं बीज निल्लाह करते हैं वो जब इन तमाम बातों को इंसान समझ लेता है तो शिर की हकीकत उस पर वाज हो जाती है ये तो चंद मिसालें थी आखिर में फिर समाप्त कीजिए कि शिर की तीन किस्में हैं अल्लाह के सिवा किसी को वाजबुल वजूद समझना यानी यह समझना कि वो हमेशा हमेशा से है हमेशा हमेशा रहेगा वो कदीम अजली अबदी है तो अल्लाह के मुतालिक ये समझना ये भी शिरक है ये शिरक फिर ज़ात है दूसरी शिरक की सूरत है शिरक फिल इबादत अल्लाह के सिवा किसी को इला खुदा मबूद समझना अल्लाह के सिवा किसी की पूजा करना इबादत करना ये शिरक फिल इबादत है और तीसरी सूरत शिरक सिफात यानी अल्लाह की सिफात के बराबर किसी की सिफत समझना लेकिन जब जाति और अताई का फ़र्क हो लामादूद और महदूद का फ़र्क हो मुतनाही और गैर मुतनाही का फ़र्क हो कदीम और हादिस का फ़र्क हो तो फिर बराबरी नहीं होती तमाम मुसलमानों का अकीदा यही है कि फरिश्तों अम्बिया और अलिया को जो ताकतें मिली हैं वो किसने दी हैं अल्लाह ने दी हैं ये अताई हैं और वो खुदा नहीं है इला नहीं है ये जो भी तसरुफ करते हैं इजनिल्लाह करते हैं जब ये अकीदा मौजूद है तो इसका कोई शिरक से ताल्लुक नहीं फिर भी मजीद तफसील जानना चाहें तो शिर की हकीकत ये किताब और कैसेट और सी डी को आप समाप्त कीजिए आखिर में हम इन बातों को फिर दोहराते हैं कि जिस रब ने हमें इतनी नेमतें अता फरमाई वो रब कि जिसने बिन मांगे माँ के पेट के अंदर हमें उसने रोजी अता फरमाई हम जब दुनिया में आए तो बताइए हमने आंख का सवाल किया था आंख कान जिसम के आज़ा ये जिसम का पूरा निज़ाम यानी ऐसा निज़ाम कि 1400 साल बल्कि कई हजार साल गुजर गए दुनिया इंसानी जिसम पर तहकीकत कर रही है रिसर्च कर रही है और आज तक ये मानते हैं चाहे वो काफिर हो चाहे वो मुसलमान साइंटिस्ट हो वो मानता है जिसका मेडिकल साइंस से ताल्लुक है वो कहता है कि पूरे जिसम पर तहकीकात करने के बाद भी हम अभी तक इस इंसानी जिसम को मुकम्मल समझ नहीं सके अगर ये समझ चुके होते तो तहकीकात बंद हो जाती तहकीकात का सिलसिला जारी है जो इंसान अपनी ज़ात ही को समझ ना सके मुकम्मल वह अल्लाह की ज़ात सिफात की मार्फत अपनी अकल से कैसे पा सकता है जो इंसान आइंस्टाइन कि जो ये कहता है कि मैंने अपनी दूरबीन से एक ऐसे कहकशा को देखा है कि जो करोड़ों नूरी साल दूर है एक ऐसे सितारे को देखा है करोड़ों नूरी साल का मतलब ये है कि एक सेकंड में रोशनी लाखों मील का सफर कर लेती है तो जो रोशनी लाखों मील का सफर कर लेती है वो उस सितारे तक करोड़ों साल में पहुंचेगी तो बताइए वो सितारा कितना दूर होगा तो वो ये कहकर फिर ये कहता है कि कायनात इतनी बड़ी है कि यूं समझिए कि अभी तक ये तहकीक करने के बावजूद मैं कायनात के जर्रे को भी समझ नहीं सका यानी कायनात इतनी बड़ी है जो रब की मखलूक कायनात की तहकीकात मुकम्मल न कर सके और मुकम्मल तौर पर पूरी कायनात को न समझ सके वो रब को अपनी अकल से कैसे समझ सकता है तो अल्लाह की ज़ात और सिफात की मार्फत सिर्फ वही इलाही से हो सकती है कुरान हदीस के नूर से हो सकती है अपनी अकल से जिसने समझा वो गुमराह हुआ तो कहने का मकसद ये है कि रब ने इतनी नेमतें अता फरमाई इतना फजल किया इतना करम किया हम अगर अपने रब की नाफरमानी करें तो मुझे बताइए रोजी देने वाला वो आंखें देने वाला वो जान देने वाला वो अकल और सलाहियत देने वाला वो वो चाहे कितना ही अकलमंद आदमी हो सुबह उठे तो उसकी अकल चली गई हो वो चाहे तो कितना ही तंदुरुस्त आदमी हो रात को सोकर जब सुबह उठे तो उसका एक जिसम पर फालिज का असर हो वो चाहे तो चलता हुआ आदमी दुनिया से चला जाए कल रात को हम गाड़ी में एक जगह से बयान करके आ रहे थे तो एक दोस्त ने एक वाक़ सुनाया कहा कि ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर हमारे एक रिश्तेदार खाना खाने के लिए आए थे उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे खाने का ऑर्डर दिया और सलाद आकर यानी सलाद रखी गई उन्होंने सलाद वो मुंह में डाली और उसे चबा ही रहे थे हार्ट फेल हुआ और उसी वक्त इंतकाल हो गया तो इंसान रब की नाफरमानी करता है हालांकि सारी ताकतें रब ही के दस्ते कुदरत में लोग क्या दे सकते हैं और क्या ले सकते हैं जिन लोगों की खातिर इंसान रब को नाराज करता है तो हम रब की बारगाह में झुक जाएं, सच्ची पक्की तौबा करें एक पाकिजा जिंदगी गुजारें और अपने ईमान की फिक्र करें आखिर में वही अहादीस तय्यबा हम रिपीट करते हैं जो शुरू में हमने सुनाई थी और ये अहादीस हम बार बार रिपीट करेंगे ताकि हमारे दिल में ईमान की हिफाजत की फिक्र पैदा हो कंजुल उम्माल ग्यारहवीं जल्द सफ़ा नंबर वन हंड्रेड सिक्स अन करीब लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि मस्जिद में एक हजार बल्कि इससे ज्यादा लोग नमाज पढ़ेंगे मगर उनमें कोई मोमिन न होगा इमाम अबू नईम हिलियतुलौलिया में अबू उमामा से रिवायत करते हैं फरमाया आखिरी जमाने में कीड़े मकोड़ों की तरह पढ़े लिखे लोग होंगे यानी वो पढ़े लिखे कहलाते होंगे आलिम कहलाते होंगे लेकिन कुरान हदीस से उन्हें कोई शगफ नहीं होगा और कीड़े मकोड़ों की तरह उनकी हैसियत होगी आखिरी जमाने में कीड़े मकोड़ों की तरह पढ़े लिखे लोग होंगे तो जो ये जमाना पाले वो उससे अल्लाह की पनाह मांगे इमाम तिरमिजी और इमाम मुस्लिम रिवायत करते हैं हजरत अबू हुरेरा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक आमाल ऐसे फितनों के जहूर से पहले कर लो जो अंधेरी रात के हिस्सों की मानंद होंगे अगर आदमी सुबह के वक्त मोमिन होगा तो शाम को काफिर हो जाएगा और शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर हो जाएगा कोई दुनिया के हकीर सामान के बदले में अपना ईमान अपना दीन बेच डालेगा कंजुल उमाल दसवीं जेल सफा नंबर 104 यकीनन सबसे खतरनाक चीज जिसका मैं अपनी उम्मत पर खौफ महसूस करता हूं वो उलमा हैं जो खुद गुमराह होंगे और दूसरों को गुमराह करेंगे और वो मुनाफिकीन हैं कि जो मीठी गुफ्तगु में और जबान के बड़े तेज होंगे लेकिन ईमान से उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा कंजुल उम्माल ग्यारहवीं जेल सभा नंबर एक सौ चौंतीस लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा जिसमें दीन पर साबित कदम रहने वाले के लिए तुम में से पचास आदमियों के बराबर अजर होगा इस हदीस पाक को हम फिर गौर करें बंदा सुबह मोमिन होगा शाम को काफिर हो जाएगा शाम को मोमिन होगा सुबह काफिर होगा अल्लाह हम सबको ईमान की सलामती अता फरमाए अल्लाह रबालमीन हमारा यहाँ पर आना कबूल फरमाए और हर हर लम्हे के बदले हमें दोनों जहाँ की रहमतें बरकतें नसीब फरमाए बसमीम अलहमदिल्ला आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन اللهم يا मुक़ल्लिब القلوب सबित कल्बी अला दीनिक दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को तेरे दीन पर साबित कदमी अता फरमा या मुकल्लिबल कुलूब सबित कल्बी अला दीनिक या मुकल्लिब अलकुलूब सबित कलबी अला दीनिक ए मालिक ए परवरदिगार हमें ईमान की सलामती अता फरमा हमारी औलाद को हमारे रिश्तेदारों को हमारी नस्लों को और हर मुसलमान को ईमान की सलामती अता फरमा बदअकीदा लोगों की सोहबत से उनकी गुफ्तगु से उनसे मुलाकात करने से उनकी दोस्ती से बुरी तालीम से बुरी सोच बुरे फिक्र बुरी फिक्र से और हर बुराई से हमें महफूज फरमा ए मालिक हम कितने नादान हैं कि खाते तेरा हैं तेरी नेमतों में चलते हैं मगर तेरी ही नाफरमानी करते हैं ए अल्लाह अपने कर्म से हमें अपना फरमा बरदार बना दे हमें गुनाहों से नफरत दे दे हमें इस दुनिया से नफरत दे दे हमें आखरत की मोहब्बत अता फरमा माल की मोहब्बत निकाल दे ए अल्लाह मौत की तैयारी की तोफीक अता फरमा मरने से पहले मौत की तैयारी की हमें तोफीक अता फरमा ए अल्लाह हर गलत अकीदे से हमें महफूज फरमा हर बुरी सोच से महफूज फरमा हमारी जान माल इज्जत आबरू ईमान और अमल की हिफाजत अता फरमा ए मालिक ए परवरदिगार जितने भाई जितनी बहनें हाजिर हैं सबकी हर जायज़ तमन्ना पूरी फरमा हर मुश्किल को आसान फरमा हर मुसीबत को दूर फरमा हर बला को दूर फरमा हर बेरोजगारी दूर फरमा कर्जों को दूर फरमा बीमारियां दूर फरमा जादू टोने नजर बद और आसेब से हमेशा के लिए निजात अता फरमा दुश्मनों की दुश्मनी से बचा हासिदों के हसद से बचा जालिमों के जुल्म से बचा मुफसदीन के फसाद से बचा ए मालिक हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना दे हमारी औलाद को नेक सौले बना दे हमारी औलाद को अल्लाह तेरा फरमाबरदार बना दे हमारी औलाद को अपनी विलायत दे दे अपने हबीब का इश्क दे दे अल्लाह ये सारी दुआएं हमारे हक में भी कबूल फरमा अल्लाह हमारी औलाद को आलिम बामल बना हाफिज बामल बना ए मालिक ए परवरदिगार वे औलादों को नेक साल औलाद नसीब फरमा रिश्तों की रुकावटें दूर फरमा नेक साले अच्छे रिश्ते नसीब फरमा जिनके रिश्ते हो गए आसानी अता फरमा घर में सुकून अता फरमा हमारे घराने को जन्नती घराना बना दे ए अल्लाह हमारे हर ऐप को दूर कर दे हर खामी को दूर कर दे हमें सुन्नतों भरी जिंदगी गुजारने की तोफीक अता फरमा ए मालिक ए दिगार यहाँ जो तेरा मकबूल बंदा हो जो तेरी मकबूल बंदी हो उसका वास्ता ए अल्लाह हमारे घर में ऐसा माहौल पैदा कर दे हमें ऐसा बना दे कि हमारी कभी तहजद की नमाज कजा ना हो घर का हर फर्द तहजद में उठकर नमाज तहजद अदा करे तो तहजद के बाद रो रो कर हमारे घर का हर फर्द दुआ करे फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावतें हों इशराक चाश अबीन की पाबंदियां हों अल्लाह हमारे घर को हमारे घराने को जन्नती घराना बना दे ए अल्लाह घर के हर फर्द को वली कामिल बना दे हमारे खानदान के हर फर्द को वली कामिल बना दे हर मुसलमान को तेरा कुर्ब अता फरमा ए मालिक इस कलील बेवफा फानी मुख्तसर गर्ज और मतलब की दुनिया की हकीकत समझते हुए हमें मौत की तैयारी करने की तोफ़ी अता फरमा कब्र आखरत की तैयारी करने की तोफ़ी अता फरमा जो दुआएं की हैं जो आइंदा करेंगे जो बेहतर हो कबूल फरमा हमारे हक में और तमाम मुसलमानों के हक में कबूल फरमा इन अल्लाह युसल्लून अलन नबी يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين मुसफ़ा जाने रहमत पे लाखो सलाम शमह बज में दायत पे लाखो सलाम शमह बज में दायत पे लाख जे सोहानी घड़ी चमका तय बाका चांद जे सोहानी घड़ी चमका तय बाका चांद उस दिल अफरोज सात पेला लाखों सलाम गौसे आजम इमाम तो का बनो का गौसे आजम इमाम तो का बनो का जलवाए शान कुदरत पेला